Oh. जिज्ञासा समाधान में प्रश्न है मन और बुद्धि जड़ हैं अर्थात प्रकृति से बने हैं और आत्मा चेतन है अर्थात इसका कोई कारण उपादान कारण नहीं है जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक मन बुद्धि हमारे साथ चलते रहते हैं या तो प्रलय अवस्था आएगी तब ये हमारे से पृथक हो जाएंगे या इस सृष्टि के बीच में मुक्ति हो जाएगी तब ये हमारे से पृथक हो जाएंगे आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर चलता रहता है सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं उनमें से ये दो हैं मन और बुद्धि तो ये भी हमारे साथ ही जन्म जन्मांतर में चलते जाते हैं तो प्रश्न ये है कि वैज्ञानिकों ने यदि मन और बुद्धि से भी सूक्ष्म पदार्थ बना लिया कोई ऐसा पदार्थ जिसमें से मन और बुद्धि पार न हो सके सूक्ष्म पदार्थ से यहां पर प्रश्नकर्ता का अभिप्राय इस रूप में मान लीजिए हमें किसी कमरे से ध्वनि को बाहर नहीं जाने देना है आवाज को तो कमरा साउंड प्रूफ बना देते हैं दीवारें लगा दी और कुछ आजकल तकनीकें आती हैं उससे ऐसा बना देते हैं कि ध्वनि बाहर नहीं जाएगी और बाहर की अंदर नहीं आएगी हमें प्रकाश को रोकना है तो ऐसे दीवारें या गत्ते कुछ भी ऐसे लगा देंगे कि प्रकाश बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो सूक्ष्म न कहकर के यूं कहें कि ऐसे पदार्थ बन जाएं जिससे मन और बुद्धि बाहर पार न जा सके और उस पदार्थ का एक डब्बा या बॉक्स वैज्ञानिकों ने बना दिया कोई ऐसा कमरा बना दिया पेटी बना दी और उसको पूरी तरह बंद भी कर सके वो उसमें से छिद्र कोई स्थान रिक्त स्थान ना रहे ठीक है पूरा और अंदर एक मनुष्य को जिसको मरना है उसको यदि बंद कर दिया तो इनका प्रश्न ये है कि यदि ऐसी स्थिति में वो कोई व्यक्ति मर जाए उस डब्बे में तो आत्मा तो चलो निकल जाएगी वहां से क्योंकि आत्मा तो <laughs> सूक्ष्म है वो निकल जाएगी जड़ वस्तु उसको रोक नहीं सकती किंतु मन और बुद्धि तो वहीं रह जाएंगे <laughs> ठीक है तो यदि ऐसा वैज्ञानिक कर देते हैं तो क्या होगा ईश्वर की व्यवस्था को वो भंग कर देंगे यानी ईश्वर की व्यवस्था में हस्तक्षेप कर देंगे तो फिर क्या होगा अब ये सारा प्रश्न अभ्युपगम में है मान लो वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिया तो हुआ नहीं है अगर कर दिया तो और किसी मनुष्य को तो अंदर रख नहीं सकते हो विरोध करेगा कौन ऐसे कोई किस अपने घर वालों को ऐसे कौन रख सकता है चलो किसी पशु पक्षी को रख दिया इसे मार देते हैं तो पशु पक्षी को भी वहां बंद कर दिया किसी ने तो पहली बात क्या ऐसा कोई पदार्थ वैज्ञानिक बना सकते हैं जो इनको आने जाने से रोक सके मन और बुद्धि को इनके प्रश्न में सूक्ष्म तत्व की बात है वैज्ञानिक जो भी चीज बनाते हैं वो संसार में उपलब्ध पदार्थों का उपयोग करके ही बनाते हैं जो भी संसार में पदार्थ हैं विविध हैं उनसे किससे इससे वो चीजें बनाते हैं मूल तत्व नए नहीं बनाते वो और जितनी भी चीजें हम बनाते हैं इस संसार में वैज्ञानिक बनाते हैं हम लोग जो भी बनाते हैं मनुष्य बनाते हैं ये दर्शन की दृष्टि से पांच भौतिक चीजें हैं पांच भौतिक चीजें हैं और मन और बुद्धि ये भौतिक नहीं है पंच भौतिक नहीं है मन दर्शनों की वैदिक दर्शनों की प्रक्रिया में अहंकार से बनता है और बुद्धि सीधे मूल प्रकृति से बनती है तो वैज्ञानिक जितनी भी चीजें बनाएंगे वो भूत और भूतों से बनी हुई चीजों से बनाएंगे और उससे वो ऐसी वस्तु कभी नहीं बना पाएंगे जिसमें से मन और बुद्धि पार न हो सके ऐसा कभी नहीं होगा मन और बुद्धि की बात तो छोड़ दीजिए ऐसे सूक्ष्म कण हैं वैज्ञानिक ही बोलते हैं आपने भी प्रश्न में फोटोन की बात लिखी है कि भाई प्रकाश की किरणें कांच में से पार हो जाती हैं काचू का तो रहता है कोई अंतर नहीं आता उसमें सूर्य से इतना प्रकाश आता है फोटोन कण आते हैं इनको पृथ्वी रोक लेती है अंदर नहीं जाने देती बाहर से इधर हो जाता है ताप आ जाता है बाकी प्रकाश तो अंधकार तो हो ही जाता है दीवार आदि से हम कर लेते हैं लेकिन कुछ कण ऐसे हैं इस ब्रह्मांड में जो बहुत वेग से आते हैं और पृथ्वी यदि बीच में आई है तो पृथ्वी के अंदर से होते हुए पार निकल जाते हैं ये इतनी बड़ी पृथ्वी उनके लिए बाधक नहीं बनती है इतनी स्थूल पृथ्वी एक तो होता है कि वो आते और टकरा करके बगल से निकल जाते हैं जैसे कि हवा चल रही हो और एक गेंद हो तो हवा उस गेंद के अंदर से नहीं जाती है हवा उससे आके उसके आसपास से ऊपर नीचे से अगल बगल से निकल जाएगी कोई पेड़ नदी के बीच में खड़ा हुआ है और पानी बह के आ रहा है तो पेड़ के अंदर से नहीं जाएगा वो अगल बगल से निकल के चला जाएगा पुलिया के जो खंभे हैं उसे अगल बगल से निकल जाएगा ऐसे ही ये जो कण आ रहे हैं ये पृथ्वी के से पास आके अगल बगल से निकल जाते हैं ऐसा नहीं बोलते वो वैज्ञानिक क्या बोलते हैं वो इन पृथ्वी ये कण पृथ्वी के अंदर से होते हुए आर पार चले जाते हैं जैसे प्रकाश कांच में से निकल जाता है और कोई उसको दिक्कत नहीं होती ऐसे ही वो कण पृथ्वी इतनी बड़ी पृथ्वी में से आर पार निकल जाते हैं अब वो कण भी तो भौतिक ही है इतनी सूक्ष्म चीजों को भी ये पृथ्वी नहीं रोक सकती इतनी बड़ी इतनी मोटी पृथ्वी तो मन और अहंकार तो बहुत सूक्ष्म और अलग चीज हो गई बुद्धि ये मस्तिष्क में जो बुद्धि है मांस का पिंड उसकी बात नहीं है ये सूक्ष्म बुद्धि की बात है जो दर्शनों में इंद्रिय बुद्धि मानी गई है उसकी बात है मन भी वो ही माना जाता है तो वो तो कहीं से भी निकल जाएगा इसलिए वैज्ञानिक ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते ठीक हो गया ये प्रश्न आगे इन्होंने प्रश्न किया है कि मृत्यु शब्द का क्या अर्थ है मृत्यु शब्द का क्या अर्थ है तो मृियते इति मृत्यु हो देह त्यागोवा हमारी दृष्टि से इस शरीर का छोड़ देना या छूट जाना यही आत्मा की मृत्यु है आत्मा अपने आप में तो मरता नहीं है वो तो नित्य है न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है मृत्यु का मतलब है इस शरीर से इंद्रियों से छूट जाना यहां से छूट के दूसरे शरीर में जाएगा तो वहां फिर नया जन्म होगा तो शरीर आदि के साथ में आत्मा का संबंध ये जन्म है और इससे अलग होना मृत्यु कहलाता है और मृत्यु शब्द में जो धातु है मृंग धातु है मृंग और उसका अर्थ है प्राण त्यागे प्राण का मतलब होता है जीवन जीवन का त्याग हो जाना ये जो शरीर में जीवन चल रहा है श्वास प्रश्वास हृदय धड़क रहा है खून बह रहा है चय पचय हो रहा है खाना पीना हो रहा है ये जो सारी गतिविधियां हो रही हैं ये समाप्त हो जाना आत्मा का इससे अलग हो जाना इसके आधार पर इनका अगला प्रश्न है हमने कहा प्रश्न है कि शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है चेतन तत्व कभी मरता नहीं है क्योंकि वो तो चेतन है नित्य है मरना मतलब नष्ट होना इनका अभिप्राय है मरना यानी नष्ट होना तो चेतन तत्व तो नित्य होता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता तो चेतन तत्व कभी मरेगा नहीं मर नहीं सकता और शरीर जड़ है तो जड़ वस्तु भी कभी मरती नहीं है मरती नहीं है का इनका अभिप्राय है नष्ट नहीं होती समाप्त नहीं होती शून्य नहीं हो जाती किसी जड़ वस्तु का भी अभाव नहीं होता वह तो परिवर्तित होती है कोई भी जड़ वस्तु परिवर्तित होती है उसे ही नष्ट होना बोलते हैं लेकिन वास्तव में अभाव नहीं होता है तो आत्मा चेतन है नित्य है वो मरता नहीं है और जड़ वस्तु भी समाप्त नहीं होती है तो फिर ये मरता कौन है ये मृत्यु किसकी है फिर चेतन भी शरीर बदलता है तो यह कथन क्यों सही है कि वो व्यक्ति मर गया ये जो हम बोलते हैं वो व्यक्ति मर गया ये कथन सही कैसे है आत्मा ने भी तो शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण किया है ये शरीर के छोड़ने को मरना क्यों बोलते हैं तो इनका प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये मरने का मतलब समाप्त तो होना समझ रहे हैं मरने का मतलब समाप्त तो होना नहीं होता है मरने का मतलब होता है देह त्याग यही अर्थ है बस शरीर भी है आत्मा भी है आत्मा निकल गया शरीर है उसको अंतिम क्रिया कर देते हैं हम इसी में मिल जाता है यही परिवर्तित हो जाता है रूप हो जाता है तो इनका प्रश्न बस ऐसा ही है आगे न तो उसकी आत्मा मरी और जड़ वस्तु तो जीवित होती ही नहीं है तो उसे मरा हुआ कहा ही नहीं जा सकता इसलिए यह कथन करते हैं कि वो शरीर पहले नहीं था अब है और आगे नहीं रहेगा इसलिए उसे मर गया कहते हैं लेकिन अगर परिवर्तित हो गया तो यह कहा जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा इससे लोगों की मानसिकता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा इनका कहना है कि मर गया शब्द क्यों बोलते हैं यानी हम ये बोले कि शरीर परिवर्तित हो गया शरीर में बदलाव आ गया ये बोले तो मरने का अर्थ ही यही है और जो भाषा में शब्द प्रचलित है बहुत पहले से वो जिस अर्थ में है उसी अर्थ में हम लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है हम उस अर्थ को बदल के कुछ दूसरा अर्थ ले रहे हैं हम मरने को बड़ा भयंकर समझते हैं भय भयोत्पादक समझते हैं क्यों क्योंकि मरने का मतलब समझते हैं कि समाप्त हो गया बस आगे कोई जन्म नहीं है बस जो कुछ है सारा संसार हमारा यही समाप्त हो गया जैसे शरीर समाप्त हुआ हमारा संसार तो समाप्त हो गया बाकी संसार चलता है तो चलता है हमारे लिए तो समाप्त हो गया क्योंकि हम समाप्त हो गए ये गलत मान्यता के कारण से मृत्यु से भय लगता है यदि हमें ये तत्व समझ में आ जाए कि आत्मा शरीर को छोड़ता है केवल दूसरा शरीर धारण करता है तो ये भय नहीं रहेगा उसके लिए गीता ने बहुत सरल दृष्टांत दिया है वासांसी जीर्णानी यथा विहाय अब जैसे कपड़ा बदलते हैं पुराने कपड़े या गंदे कपड़े तो उसमें हमें कोई कष्ट थोड़ा ना होता है किसी को कष्ट लग सकता है कोई बहुत दुर्बल हो रुग्ण हो नहीं तो हम प्रतिदिन बदलते ही हैं हमारे को कोई भी कष्ट नहीं होता बल्कि प्रसन्नता होती है कि हम मलिन और पुराने वस्त्र छोड़ रहे हैं नए वस्त्र को ले रहे हैं ऐसे ही जब ये तत्व समझ में आ जाता है ये शरीर तो साधन है ये तो कपड़े के समान है चोला है तो चोला बदल देते हैं समय पे बदल जाता है उसमें कोई दुख नहीं है हानि नहीं है तो यदि मृत्यु का ये ठीक अर्थ देह का त्याग ही समझा जाए तो मृत्यु शब्द भयंकर नहीं है शब्द को बदलने की आवश्यकता नहीं है शब्द का जो हम गलत अर्थ ले लेते हैं जिसके कारण मृत्यु शब्द भयंकर दिखाई दे रहा है उस गलत अर्थ को हमें ठीक करना है और कोई दिक्कत नहीं ठीक है हाँ, किन्हीं को इस विषय में और पूछना हो तो पूछिए आगे का प्रश्न लेते हैं इसमें एक बात और कहता हूं पहले वाला जो प्रश्न था ऐसा सुनने में आता है लोग कहते रहते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया कांच का एक घेरा बनाया बॉक्स बनाया या तो जैसा कि सर्कस में वो होता है मौत का कुआ वो गोल गोल होता है ना ऐसा कुछ गोल बनाया बिल्कुल कांच का बंद और उसमें किसी बकरी को या ऐसे प्राणी को रख दिया कुत्ते को खरगोश को बंदर को जिसको भी अब हवा तो बंद है अंदर तो मरेगा जब वो मरा तो वो ये देखते थे कि मरने के बाद कोई चीज निकल के जाती है या नहीं जाती है जैसा लोग कहते हैं कि पंछी तो उड़ गया यानी आत्मा चली गई इत्यादि जो बातें हैं तो क्या वास्तव में ऐसा होता है तो ऐसा कोई प्रयोग किया गया किया गया या नहीं किया गया पता नहीं ऐसा कहते हैं लोग बात उसी के साथ वो बोलते हैं कि जब वो मरा तो वो जो काक था उसमें विस्फोट हो गया दीवार जो थी उसकी कांच की है जो भी बना रखी थी उन्होंने वो टूट गई और आत्मा निकल गई इतनी शक्तिशाली आत्मा है वो उसको रोक रोक नहीं सकी ऐसा कहते हैं तो आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है वो कांच के गोले की बात करते हैं प्रकाश ही निकल जाता है जो कि भौतिक अग्नि है प्रकाश अग्नि है भौतिक अग्नि है पंच भावभूतों में से एक है वो ही निकल जाता है तो आत्मा की तो बहुत बहुत सूक्ष्म है इसलिए वो टूटने वाली और ऐसी कोई घटना और कोई कारण रहा हो तो अलग है आत्मा निकल के गई है या सूक्ष्म शरीर साथ में गया है उसके इसलिए वो टूट गया ये नहीं समझ में आता इसी तरह से एक और कथा इसमें प्रचलित है अच्छा। वैज्ञानिकों के नाम से अब पता नहीं प्रयोग किए हो ऐसा कोई निर्णय आया हो हो सकता है लेकिन उन्होंने क्या किस परिस्थिति में प्रयोग किया वो पूरी बात तो पता नहीं रहती है छोटी सी बात को लेकर के तो कुछ को वैज्ञानिकों को जिज्ञासा हुई या जो कहानी है उसको बोल रहा हूं मैं तो तो पुस्तक में भी मिलता है लिखा हुआ कुछ आश्चर्यजनक बातें और इत्यादि पुस्तकें आती हैं कहीं बोले आत्मा का भार कितना है जिज्ञासा है हो सकती है किसी को भी आत्मा का भार कितना है तो कैसे पता लगे आत्मा का भार ऐसा सुनते हैं कि शरीर आत्मा शरीर छोड़ करके जाता है आत्मा शरीर छोड़ के जाता है तो एक तो जीवित अवस्था में भार ले लो उस व्यक्ति का ठीक है और फिर मरने के बाद में भार ले लो तो पता लग जाएगा कि आत्मा का भार कितना है ठीक है ना युक्ति तो ठीक है तो ऐसा कोई प्रयोग किया गया और उसमें पुस्तक में लिखा है पता नहीं कितना तेईस ग्राम चौबीस ग्राम ऐसा कोई लिखा है उसमें कि मृत्यु से पहले भार किया और मृत्यु के बाद में भार किया तो उसमें 24 ग्राम की कमी आ गई तो 22 ग्राम की जितना भी है लेकिन कुछ ग्रामों में है संख्या कितनी इक्कीस ग्राम की कमी आ गई तो अब ये बात है कि जो छोटे प्राणी हैं जो एक एक ग्राम के भी नहीं <laughs> कैसे करेंगे संभव नहीं है और आप एक ग्राम की तो बात छोड़िए वैज्ञानिक ही जैसा बताते हैं सुई की नोक पे इतने विषाणु यानी लाखों की संख्या में हो सकते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं एक ग्राम में भी इतने सूक्ष्म वायरस बैक्टीरिया होते हैं वायरस खासतौर से बहुत सूक्ष्म होते हैं तो वो सब तो जीवित है उनमें भी जीवन है और छोटों को छोड़ दो जो हमें दिखाई देते हैं उन तक भी ले लें तो भी ये 21 ग्राम वाली बात नहीं घटती है और उन्होंने तो आत्मा की दृष्टि से ही किया था हमारी दृष्टि से तो केवल आत्मा नहीं, नहीं जा, आत्मा नहीं जाती सूक्ष्म शरीर भी तो साथ में जाता है अठारह तत्व रहते हैं लेकिन उनको भी जोड़ लें तो भी ये गणना ठीक नहीं है क्यों कैसे हुआ इसका हम कुछ नहीं कह सकते ये प्रयोग हुआ भी या नहीं हुआ इसकी कोई प्रामाणिकता अंतर भी नहीं है तो इस तरह की बातों पर ध्यान न दे करके आत्मा तो सूक्ष्म है उसका कोई भार ही नहीं हम कह सकते इतना नगण्य है अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कितना भार होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन होते हैं तो भार किसके आधार पर माना जाता है केंद्रक में इलेक्ट्रॉन का कोई भार माना जाता है वहां पर इतना नगण्य कि वो कुछ कह ही नहीं सकते उसको होगा कुछ ना कुछ लेकिन माना मानते भी नहीं है ये तो और भी सूक्ष्म हो गया तो इसको किस ग्राम या कुछ और ऐसा तोड़ के निकल गए ऐसा बॉक्स में बंद करके रखने की डब्बे में ऐसा कुछ नहीं हो सकता ठीक है दूसरा विषय लेता हूं मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगाया जाता है ठीक है सफेद सफेद जो लगता है मिठाइयों पे वो क्या उस परत युक्त मिठाई का भक्षण करने से हम हिंसा के भागीदारी बनेंगे या नहीं अब हिंसा कैसे है उसमें उन्होंने लिखा कि पुरानी जानकारी के अनुसार रिपोर्ट लिखा है इन्होंने पुरानी रिपोर्ट के अनुसार केवल उस परत की प्राप्ति के लिए हमारे देश में एक लाख सोलह हजार गऊओं का वध किया जाता है केवल उसके लिए एक लाख सोलह हजार गऊओं का वध किया जाता है केवल उसके लिए अभी यदि डेढ़ लाख गऊ का वध कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी पहले होगा एक लाख पंद्रह हजार अभी तो डेढ़ लाख हो सकता है संख्या बढ़ गई है तो क्या हम अप्रत्यक्ष रूप से उस हिंसा के भागीदार नहीं बनेंगे क्योंकि हम भी खा रहे हैं उसको अर्थात इनका कहना है कि गौवों की आतड़ी में चांदी को कूटकर परत तैयार करते हैं तो मेरी जानकारी में तो आतड़ी में तो नहीं करते आतड़ी का मतलब होता है आते वो ऐसी नहीं होती जिसमें ये किया जाता है वो चमड़े के थैले होते हैं चांदी के बर्क जो बनते हैं वो चमड़े के थैलों में बनते हैं और वो चमड़ा गाय का ही हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है किसी का भी हो सकता है भैंस का हो सकता है बकरी का पेड़ का ऐसे कुछ किसके बनते हैं मेरे को पक्का नहीं पता लेकिन वो चमड़े के अंदर बनते हैं चांदी को पहले थोड़ा सा लंबा कर देते हैं पतरा बना लेते हैं उसका चादर जैसी जैसे लोहे की चादर होती है ऐसे चांदी को चांदी का टुकड़ा लेकर के पहले यंत्र होते हैं उसमें से उसको गुजारते हैं पहियों के बीच में से तो वो फैला देता है उसको जैसे गन्ने का रस निकालते हैं गन्ने को यूं डालते हैं तो फैल जाता है चपटा होता चला जाता है ऐसे ही वो यंत्र होते हैं जिसके बीच में से एक टुकड़े को निकालते हैं तो पहले तो वो चांदी का टुकड़ा फैल जाता है पतला बन जाता है क्योंकि चांदी जो है वो नरम धातु है फैल जाती है जल्दी सोना भी और जल्दी फैल जाता है उसको बोलते हैं आघात वर्ध मारने पे आघात करने पे वो बढ़ जाते हैं सोना के अलावा और भी धातु हैं सभी धातुओं में लगभग रहता है लोहा भी पीटने पे बढ़ जाता है ऐसे लेकिन ये मृदु धातु हैं ये जल्दी फैल जाती हैं पहले उसको कर लेते हैं फिर उसका एक टुकड़ा लेकर के जितना आवश्यक होता है वो उसमें डाल देते हैं थैले में वो थैले कैसे होते हैं वो चपटे चपटे से होते हैं दोनों तरफ सिल देते हैं बटुए जैसे सब तरफ उसको सिल देते हैं और बीच में चांदी डाल देते हैं और उसको फिर रख देते हैं और फिर हथौड़े से उसको मारते हैं मारते जाते हैं मारते जाते हैं उससे वो और फैलता जाता है फैलता जाता है सब जगह मारते जाते हैं मारते जाते हैं यदि खुले में मारे तो टूट जाएगा बिखर जाएगा फैल तो जाएगा थोड़ा सा लेकिन इतना पतला नहीं बन सकता जितना हम मिठाई के ऊपर खाते हैं मिठाई पे बहुत पतला होता है वो बहुत बारीक होता है और यंत्रों से बनता नहीं तो उसको कूटते हैं कूटते हैं खुले में कूटेंगे तो टूट फूट जाएगा अंदर रहता है तो फैलता जाता है इधर उधर नहीं जाता है और सीधी कठोर चोट नहीं पड़ती है नहीं तो हथौड़े से मारेंगे तो हथौड़े के चिपक जाएगा नीचे चिपक जाएगा बन नहीं पाएगा तो अंदर रहता है और अंदर रहते रहते हो यदि वो टूट भी जाता है तो दोबारा फिर चोट पड़ी तो जुड़ भी जाएगा क्योंकि चोट करने से फिर चिपक भी जाता है ना जुड़ जाता है तो वहां उसमें वो खट खट खट यू करते रहते हैं आपने कई शहरों में देखा होगा आप में से कितनों ने देखा है बनते हुए आपने देखा है और नहीं तो आपकी जानकारी मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई इधर उधर हो तो बोलना अजमेर में तो मैंने देखा है बनते हुए ठीक है ना वहां आप कभी चलेंगे तो अभी भी बनता रहता है वहां पर कुछ दु, दुकान है कुछ गिनी चुनी जगह लोग हैं वही बना देते हैं पूरे दो चार थैले मुश्किल से कुछ रखते होंगे जितने भी वो और वो ही पूर्ति कर देते हैं इतनी हो जाती है कारीगर बैठे हुए रहते हैं और उस वक्त और वहां खट खट खट खट आवाज आती रहती है उन दुकानों के पास से गुजरते हैं ना तो खटखट आवाज आती रहती है फिर करते करते करते जब वो फैल जाता है उसको खोल के और उसको निकाल लेते हैं और ऊपर कागज बीच में डाल देते हैं फिर डाल देते हैं फिर कागज ऐसे आते हैं एक पतली पतली पन्नियां आती हैं आपने देखा होगा बाजार में ये बर्फ कैसे आते हैं एक इन दो परतों के बीच में कागज रहता है नहीं तो वो आपस में चिपक जाएंगे ऐसा अलग अलग रहे इसलिए एक एक को निकालना है तो निकालते चले जाते हैं है? बटर पेपर या ऐसे पतले पतले वो कागज आते हैं उसमें ऐसे आते हैं ऐसे बिकते हैं तो वहां चूंकि चमड़े का प्रयोग किया जाता है और आजकल चमड़ा अधिकांश ऐसे बुचड़खानों में उनको पशुओं को मारा जाता है फिर चमड़ा काम में लिया जाता है स्वाभाविक मौत भी होती है पर मारा भी बहुत जाता है तो इनका प्रश्न ये है कि क्या उस हिंसा का पाप हमारे को भी लगेगा और हमें उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए एक तो केवल इसके लिए एक लाख सोलह हजार गऊ का मरना हर साल ये मेरी समझ से बाहर की बात है, है? भारत में लाखों गऊ मरती होंगी पशु मरते होंगे ठीक है लेकिन केवल इसके लिए एक लाख सोलह हजार मरते हो ये तो समझ में नहीं आता और आतड़ियों वाली बात तो ठीक नहीं है पशुओं की आतड़ियों में कुछ नहीं होता आतड़ियां तो निकाल देते हैं फेंक देते हैं वो कोई खाना होता है तो कर देते हैं चमड़े में बनता है ये तो आतड़ियां तो खुद टूट फूट जाएंगी चमड़ा मजबूत होता है उसमें ये काम होता है इन्होंने पिछली बार भी आके पूछा था तो बोले जी इससे कोई हानि तो नहीं है इन्होंने उस समय हिंसा का नहीं कहा था उनका ऐसी कोई हानि नहीं है आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है हम खाते हैं इससे धातु को खाते हैं इससे कोई हमारे को हानि होती हो नहीं लाभ होता है शारीरिक दृष्टि से वो प्रयोग किया जाता है लेकिन आज इनका प्रश्न है हिंसा के ऊपर तो अजमेर में भी यही प्रश्न उठा था कुछ महीनों पहले वो चमड़ा हत्या किए हुए पशु का आता है या स्वयं मरे हुए का आता है ये हम कुछ कह नहीं सकते ठीक है पशुओं को तो मांस के लिए वैसे ही बहुत मारा जाता है पशुओं को जो मारा जाता है चमड़े के लिए भी मारते हैं विशेष चमड़े के लिए विशेष तड़पा के मारते हैं गर्म पानी डाल के मारते हैं या तो गर्भ के बच्चों को मार देते हैं छोटे जन्मते ही बच्चों को मारते हैं मुलायम चमड़ा लेने के लिए ये सब बहुत कुछ होता है एक होता है कि जूते बन रहे हैं और बन रहे हैं सामान्य जो बनते हैं उसमें कोई मुलायम मुलायम बात नहीं एक सामान्य रूप से बनते हैं जैसे ये भी सामान्य रूप से बनता है ये भी बहुत मजबूत होता है क्योंकि इतनी चोट पड़ती है उस पर तो लोहे की हथौड़ी बार बार बार बार ये मृदु नहीं होता है ऐसा ये जो चमड़ा होता है चमड़े का प्रयोग अपने आप में पापजनक नहीं है ठीक है जूते भी पहनते हैं और भी कार्य होते हैं पहले तो घी तेल भरा जाता था उनमें कूपों के अंदर चमड़े के भी होते हैं पानी भी रखा जाता था और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें बात है कि यदि पशु को गलत ढंग से मारा गया है तब हमारे पे पाप आएगा या नहीं आएगा ये बात है तो परंपरा से हम माने भी यदि इसी काम के लिए वो मारा जाता है इसका उपयोग इतना ज्यादा हो इनका तब तो हम मान सकते हैं ऐसा एक सीमा तक एक है कि वो वैसे ही मार रहे हैं मांस के लिए और चमड़े का भी फिर अन्य उपयोग करते हैं एक होता है विशेष चमड़े के लिए मारा जाता है अनेक पशुओं को एक होता है कि मांस के लिए मार रहे हैं वो अब उसकी हड्डियां भी निकल रही हैं तो हड्डियां भी काम में आ रही हैं मर गया है तो चमड़ा भी काम में आ रहा है उसकी विविध चीजें बन रही हैं ये दो तो बातें हैं तो मुख्य प्रयोग यदि मांस के लिए है और अन्य ये इतर बचे कुछ ही चीजों का प्रयोग और हो रहा है तो उसमें उस तरह से हम हिंसा नहीं देख सकते ठीक है क्योंकि वो हत्या का कारण नहीं बन रहा है हत्या का कारण तो वो वैसे भी बनेगा जैसे बहुत सी चीजें होती हैं वो व्यर्थ होती हैं उसको फेंक देते हैं वो मारते हैं बहुत चीजें व्यर्थ होती हैं फेंक देते हैं खून भी प्राय बह जाता है और अगर उसका कोई उपयोग करे तो क्या होगा तो ये उपयोग एक तो बहुत कम है और केवल इसके लिए नहीं मारा जाता फिर भी उसमें जिनको ये प्रतीति होती हो कि नहीं कुछ ना कुछ तो हमारे को प्रयोग लगेगा तो वो उसका उपयोग ना करें उनके मन को अगर स्वीकार नहीं होता है तो ना करें प्रयोग अजमेर में तो फिर ये इस बात बिंदु को लेकर के ये किया था कि हम जिनसे मिठाई लेते हैं या खरीदते हैं बाहर से लेते हैं तो पहले से वहां जिसपे बर्क लगाओ उसको नहीं लेना है हमें ये कर सकते हैं ठीक है और जो मिठाई लेके आते हैं दानदाता भेंट करते हैं उनको बता देते कि भाई बर्क लगी हुई मिठाई मत लाया करो ठीक है और बताने के बाद भी अगर कोई लाता है तो हम स्वीकार ना करें ये होता है लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होता है उनको सूचना भी नहीं होती है और कई बार उसके बाद भी हुआ प्रधान जी को किसी ने मिठाई दे दी वो ले आए और उनका कि बांट दो तो उसमें फिर विकल्प ये रहता है कि जिनको ऐसा प्रतीति होती तो वो उस मिठाई को ना लें ठीक है लेकिन ये वैसा इतना ऐसे पापजनक प्रतीत नहीं होता इसलिए नहीं तो ये चीज हम यहाँ बटने ही नहीं देते ठीक है आजकल है पर हाँ अगर हम इससे बच सकते हैं तो अच्छी बात है वो बच लेना चाहिए ठीक है इस विषय में और किसी को कुछ पूछना है बोलिए हाँ ये भी ये एक दूसरी बात है कि ये जो बर्क बनता है ये शुद्ध चांदी का बने सोने के भी आते हैं सोने के बर्क आते हैं मिठाइयों में लगते हैं वो वो बहुत महंगे होते हैं लेकिन वो तो बहुत हो गए लेकिन चांदी के भी अच्छे होते हैं फिर क्या करते हैं आजकल चांदी नहीं कुछ और दूसरी धातुओं के निकृष्ट धातु एल्यूमिनियम जैसी कोई ऐसी धातु है पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट <clears throat> यानी जैसे प्लास्टिक बनता है तो ऐसा कोई चीज है अगर इनका कहना है पेट्रोलियम पदार्थ जो जमीन से खनिज तेल निकलता है उसका जो सह उत्पाद है बाई प्रोडक्ट है पार्श्व उत्पाद है उसमें से बना हुआ जैसे प्लास्टिक भी बनता है और भी चीजें बनती हैं कालतोर बनता है कोलतार बनता है मोमबत्ती बनती है मोम बनता है इत्यादि चीजें ऐसे ही कुछ बनता है उस दृष्टि से वो हानिकारक होती हो सकती है तो या तो निकृष्ट धातु का बनता हो या पेट्रोलियम का बनता हो उससे जो हानि होती है वो एक अलग बिंदु हो गया उसमें फिर वो हिंसा वाली बात नहीं होगी और उसके लिए तो इसकी भी शायद आवश्यकता ना पड़ती हो इन वो तो वैसे ही वो मशीनों से ही बना देते होंगे जो भी बनाते होंगे वो एक अलग विषय हो गया लेकिन है जी उसकी मोटी होती है अच्छा वो सस्ती मिठाइयों में और जो वक्त सस्ते मिठाई या ऐसे कुछ चीजें होते हैं ना ठेले वाले और ये वहां इस तरह की चीजें होती हैं और एक वो पन्नी आती है कई बार फलों के ऊपर भी लगा देते हैं वो तो खाने के लिए नहीं होती वो केवल चमक दिखाने के लिए होती है <laughs> और मेरे ख्याल से और भी कई चीजों में लगा देते हैं चमचमाट कहीं मिठाइयों पे भी लगाते हो यूं वो ऊपर दिखाने के लिए होती है लेकिन ये जो चांदी की बरक आती है तो खाने के लिए होती है ऐसा तो आप लोगों को किसी को भी मन में ऐसा लगता हो तो वो उस मिठाई को ना लें या ऊपर का हटा के लेना हो तो हटा करके ले लें और बहुत अधिक लगता है तो हम यहाँ अधिक से अधिक ये सावधानी रख सकते हैं कि लेकर के ना आए लाने वालों को हम पहले से बताएं कि भाई बर्क वाला मत लाना बिना बर्क वाला लाना और कोई दानदाता लाता है उनको भी बोल दें भाई ये बर्क वाली है हम नहीं ले पाएंगे क्षमा करें ऐसा सोमदेव जी हम्म। हाँ तो नहीं उसका पता नहीं है ना अब आप बता दोगे तो उसको भी आराम से नहीं पिएंगे <laughs> इनका कहना है कि भाई इसमें तो आप आपत्ति कर रहे हो जो हैंडपंप होते हैं हैंडपंप उसमें अंदर वाशर कोई लगता है तो वो भी चमड़े का बनता है चमड़े का बनता है बोले उसको तो पानी पीते हैं तो उसको तो आराम से पी लेते हैं कोई आपत्ति नहीं करते तो वो तो अभी उनको पता नहीं है इसलिए ना और पता लग गया तो, तो उसमें भी आपत्ति हो जाएगी उसको भी नहीं लेते इसका भी नहीं पता है तो खाते रहते हैं पता लग गया तो दिक्कत होगी ये ज्ञान बड़ा दुखदाई है <laughs> ज्ञान बड़ा दुखदाई है अब इतनी दवाइयां लाते हैं हम कैप्सूल लेते हैं वो कैप्सूल का जो खोल बनता है वो जिलेटिन से बनता है एक ऐसा तत्व होता है ऐसा है वो चिपचिपा होता है बन भी जाए सूख जाए और पानी में जाते ही घुल भी जाना चाहिए तभी तो वो काम करेगा वैसे तो कड़क है बंद है सुरक्षित भी है लेकिन अंदर जाने पे बहुत जल्दी नरम पड़ जाता है और दवाई काम करती है वो यूं का तो बंद रहेगा तो दवाई तो काम नहीं करेगी वो घुलनशील होता है शीघ्रता से घुल जाता है वो जिलेटिन से बनता है जिलेटिन एक चीज है वस्तु है जिलेटिन से बनता है मेरे को जो जानकारी है बोल रहा हूँ कोई गलत हो तो संशोधन कर देना जिलेटिन कहाँ से आता है जिलेटिन कहाँ से आता है हैं? अंडे से आएगा हड्डियों के अंदर होता है मांस से आता है ये जो पशु होते हैं ना मरते हैं मारे जाते हैं वो बुचड़ खाने भी आ गए उसमें समझ वहां से वो तत्व निकलता है उससे फिर ये बनाते हैं ऐसा माना जाता है ठीक है वो हम सब लेते हैं अधिकांश लेते हैं इसी तरह से ताकत की बहुत सारी दवाइयां आती हैं जिनको हम ताकत की दवाई बोलते हैं बीमार होने पे विटामिन वाली मल्टी विटामिन दवाइयां आती हैं विटामिन ए विटामिन डी खास तौर से दो विटामिन ये और ई भी कह सकते हैं ये पशुओं से बहुतों से आते हैं ऑयल आते हैं कॉड लीवर ऑयल के नाम से आता है उसका तो नाम ही यही है कॉड लीवर ऑयल लीवर मतलब यकृत एक मछली होती है उस मछली के यकृत में विटामिन डी बहुत होता है लीवर ऑयल में डी और ए या ए ए विटामिन ए बी भी नहीं वो ठीक है दोनों बातें हैं <laughs> ऐसा है कि हमारा शरीर विटामिनों को संचित करता है स्टोर करता है विटामिन सी ऐसा है जो शरीर में संचित नहीं होता है वो प्रतिदिन खाना होता है अधिक लिया तो पेशाब से निकल जाएगा वो मूत्र से निकल जाएगा उसको विटामिन सी को वो प्रतिदिन लेना होता है लेकिन ए है डी है इनको शरीर संचित कर लेता है इतना संचित कर लेता है कि महीनों या सालों तक भी अगर हम नहीं लें ना तो भी कमी नहीं आती है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोड़ता रहता है छोड़ता है जिस दिन अधिक खाया उस दिन संग्रहित कर लेगा काम तो थोड़ा सा आ रहा है इकट्ठा हो जाएगा और फिर जिस दिन नहीं खाया तो वहां से निकल के काम में आ जाएगा जरूरत तो रोज की है तो हमारा ये कृत भी करता है ऐसा हमारे ये कृत में भी रहती हैं वो चीजें लेकिन मनुष्य के में कम हो रही है यदि विटामिन ए और डी की कमी है तो एक कॉड लीवर ऑयल मछली का यकृत होता है वो भी इकट्ठा करता है वहां भी इकट्ठा रहता है तो कैसे पूर्ति करें मनुष्य का यकृत मार के तो ले नहीं सकते उसका तो इनका मछलियों का मार के उनका यकृत निकालते हैं उसमें से वो तेल निकालते हैं वो विटामिन डी की कैप्सूल की बच्चों को दी जाती है halibut liver oil cod liver oil ये दो मछलियों का खासतौर से आता है और भी कई पशुओं की चीजें काम में ली जाती हैं कैल्शियम की जो गोलियां आती हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए प्राय करके वृद्धावस्था में महिलाओं को अधिक होती है ये समस्या हड्डियां महिलाओं की जल्दी कमजोर होती हैं सुशिर हो जाती है यानी छिद्र युक्त हो जाती है पोरोसिस पोर्स हो जाते हैं उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं ऑस्टियो मतलब तो हड्डी से संबंधित पोरोसिस मतलब सुशिरता अस्थि सुशिरता छिद्र हो जाते हैं पोली पोली हो जाती है यानी कमजोर हो जाती है फिर गिरते हैं तो जल्दी टूट जाती है फिर तो उसकी पुष्टि के लिए कैल्शियम की पूर्ति की जाती है कैल्शियम की जो गोलियां आती हैं वो कैल्शियम कहां से आता है हड्डियों से आते हैं कहां से आती हैं हड्डियां ये जो बूचड़ खानों में मरते हैं इतनी हड्डियां होती हैं उस हड्डियों का भी काम आता है उसकी गोलियां बनती हैं दवाइयां बनती हैं और भी बहुत सारे रसायन बनते हैं आयुर्वेद में भी बनते हैं आयुर्वेद में भी बनते हैं ऐसी एक बच्चों के लिए और माताओं के लिए औषधि दी जाती है कैल्शियम की पूर्ति के लिए कुकुटांड त्वक भस्म बनाते हैं कुकुट मतलब तो हाँ। कुकड़ ये मुर्गा मुर्गी एक ही बात है <laughs> मुर्गी उसका अंडा और अंडे की त्वक त्वक मतलब त्वचा शैल उसका बाहर का जो त्वचा है उसकी भस्म बनाते हैं आप आयुर्वेद की औषधि लेने जाएंगे आपको लगेगा आयुर्वेद तो भारतीय है लेकिन इसकी पूर्ति की जाती मैं भी जब वहां था चित्रकूट के अंदर तो औषधालय फार्मेसी का बना था मेरा काम ही औषधि बनाना था तो मैं औषधालय के लिए ये भी बनानी थी अब क्या करूं तो वहां पर उसको जगह को क्या बोलते हैं एक शहर कस्बा है पास में तो ये जो आमलेट बनाते हैं आमलेट ले लेते हैं वो छिलका रहता है उसका क्या करते हैं फेंक देते हैं तो आमलेट वाले के पास जाके कि भाई छिलके जो हैं ये तो चाहिए हमारे को वो थोड़ा पैसा ले लेता है पैसे लेके छिलके ले आए अब छिलके के अंदर भी परत रहती है यानी वो अंदर का निकाल के बना लेते हैं तो भी जो फेंकते हैं ना उसमें अंदर चिकनापन तो रहेगा ही वो अंडे का उसको ला करके धो लेते हैं पूरा तो वो अंदर की परत चिकनी चिकनी वो तो अलग निकल जाती है और जो टुकड़े से होते हैं वो अलग नीचे आ जाते हैं उसको साफ कर दिया धोके निकाल दिया अब वो जो बचा फिर उसको पीस करके घृत कुमारी का रस डाल के यानी ग्वार पाठे का उसको पीस के टिकिया बना के और सबकुट में सराओं के बीच में रख के और उपले में गचपुट में उसको फूक देते हैं जला देते हैं अंदर भावना तो उसकी हो गई घृत कुमारी की घृत कुमारी स्वरस की और फिर वो पक जाता है फिर निकाला फिर रस डाला करके ऐसे दो तीन बार कूट देते हैं और वैसे तो एक ही बार में बन जाती है वो इतना मुलायम होता है भस्म बन जाती है भस्म बन जाती है और उसको पीस करके और शीशी में आ जाता है सफेद सफेद चूर्ण मिलेगा चिकित्सक लिखेगा कैल्शियम की पूर्ति के लिए बच्चों के लिए या माओ के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए या वृद्धों के लिए ताकत के लिए देते हैं अब प्रश्न आएगा मैंने तब भी सोचा कि भाई ये पाप कर्म है या नहीं है तो मेरा तो समाधान ये था अपने ऊपर मैं अंडे नहीं खाता था तब भी नहीं खाता था कभी नहीं खाता कि इस भस्म के लिए अंडों को नहीं तोड़ा गया है अंडे क्यों टूटे हैं अंडे क्यों बनाए गए हैं इस तरह के अंडे और ये सारा व्यापार अंदर का खाने के लिए ये तो उसको फेंकने वाले हैं इसके कारण से वो हिंसा नहीं हुई है इसके कारण से मैं अपने आप में संतुष्ट था तो वो लेकर क्या है और भी बहुत सारी है मैंने कई बार तो बोली है चीजें <laughs> आपको बड़ा विचित्र लगता होगा ये तो चिकित्सक तो अलग ही प्रकार का होता है वो आपको लगेगा कैसा राक्षस है चिकित्सक <laughs> क्या क्या करते हैं चिकित्सक लोग <laughs> धार्मिक लोगों को अधिक समस्या होती है इसमें खैर मैंने अपनी तरफ से इस संतुष्टि से कि इसमें पाप नहीं है दूसरों से मैं चर्चा करता ही नहीं था लेकिन मैं तो सोचता ही था कि मैं ये काम करने वाला हूं करूं या नहीं करूं मैं अपनी तरफ से यह संतुष्ट था कि ये अंडे के छिलके हिंसा जन्य नहीं हिंसा के कारण से ये नहीं हिंसा जिसके कारण से हुई वो लोगों ने ले लिया प्रयोग ये तो फालतू चीज है हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं मुक्ता शुक्ति भस्म हम बहुत अच्छी तरह लेते हैं बहुत पैसे में लेते हैं सीपी e होती है मुक्ता यानी मोती मोती भी कैसे बनता है सीप का एक प्राणी होता है कीट कीड़ा होता है अंदर जंतु होता है उसका खोल होता है वो उसका खोल है वो उसकी सुरक्षा के लिए उस खोल के अंदर यदि कोई कण अंदर चला जाता है विजातीय द्रव्य बाहर की कोई चीज वो उसको चुभती है उस कीड़े को तो कीड़ा उससे अपनी रक्षा करने के लिए एक स्राव छोड़ता है जो उसके लिपटता है ऐसा जो पढ़ा लिखा वो मैं बता रहा हूं आपको वो लपेटता है इससे वो अपनी सुरक्षा करता है और वो वहां पर मोती के रूप में बन जाता है अंतर का जंतु अब जिनको मोती निकालने होते हैं वो क्या करते हैं मोती निकालते होते हैं क्या करते हैं समुद्र से उनको ले लेते हैं सीपी को बंद रहती है वो तो अंदर जीव रहता है वो बंद रहता है उसको निकालते हैं कैसे निकाल और फिर उसको उबलते हुए पानी में डालते हैं उसको मर वो मर जाता है जीव खोलते हैं उसको मांस को खा जाते हैं या पशु खा जाते हैं जो भी काम में लेते हैं और अंदर का जो मोती होता है उसको निकालते हैं और मोतियों की माला पहनते हैं हम हम मतलब जो पहनते हैं हमारे पास तो बात ही नहीं है सामर्थ्य <laughs> मोती क्या पहनेंगे और पहनेंगे तो बदनामी और हो जाएगी <laughs> ये कौन हमारे हम, हमारे से तो दूर है खैर पर जो पहनते हैं हिंसा का भाव सोचते हैं वो सीपी फिर बाजार में आती है उसकी भस्म बनती है खोल की और वो हम खाते हैं आयुर्वेद की अभी पतंजलि में गए थे श्रुतिधर जी थे साथ में वह मुक्ता शुक्तियां थी वास्तविक मुक्ता शुक्तियां थी बड़ी बड़ी और अंदर वो चमक थी वो मोती वाली एकदम देखी और मोती के कण भी थे वो गोल गोल भी था देखा है वहां पर बहुत सारे थे बहुत सारे और उसकी भस्म बनती है वहां पर बड़ी मात्रा में बनती है इतना बड़ा काम है बहुत बनती है वहां वो आती है और हम सब लेते हैं वो जो सीपें आई हैं वो स्वाभाविक मृत्यु होने के बाद में आई हैं इसकी इसका वचन प्रामाणिकता गारंटी कोई नहीं दे सकता मरती हैं आती हैं ले ली वहां तक चल सकता है कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उनको सीपी के व्यापार करने वाले समुद्र में से निकालते हैं जिन जीवित को निकालते हैं फिर उनको मार देते हैं सुखा देते हैं और फिर बेच देते हैं और हम मुक्ता शुक्ति भस्म खाते हैं मुक्ता पिष्टी खाते हैं आप सोचने लोगों के तो हर जगह मिलेगा बहुत चीजें मिलेंगी अगर हमारा मन स्वीकार नहीं करता है न लें उसको कृत्रिम जो उपज की जाती है मोतियों की कृत्रिम भी प्राणी ही बनाता है वो जैसे मत्स्य पालन कृत्रिम होता है एक तो समुद्र में तालाबों में अपने आप होती है एक मत्स्य पालन खेती की तरह भी किया जाता है आजकल फिशरीज जो बोलते हैं क्या गांव गांव में हो गया आजकल ऐसे ही सीप को भी किया जाता है उसके बीज आते हैं वो फैला देते हैं वो बड़े होते हैं और फिर उनको निकालते हैं फिर उसका मोती लेते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा कण डालते हैं निश्चित मात्रा में उससे फिर वहां अंदर मोती बन जाता है जानबूझ के वो ज्यादा अच्छे मोती बनते हैं ज्यादा गोल आते हैं प्राकृतिक उतने अच्छे नहीं होते लेकिन जंतु तो वहां पर भी है कृत्रिम भी कर रहे हैं और पालन करके भी कर रहे हैं तो भी मोती हैं और वहां मरते हैं रेशम आ रहा है रेशम के साड़ी वस्त्र बहुत सारे पहनते हैं बहुत सारे सामान लेते हैं रेशम का <laughs> हम लोग यात्रा के लिए नासिक गए थे <laughs> शांति धाम जाते हुए हाँ वहां पर तमिलनाडु कर्नाटक में बहुत अधिक है ये वहां रेशम होता भी बहुत है मैसूर की वो सिल्क की साड़ी मैसूर सिल्क बहुत फेमस बहुत साड़ियां आती हैं रेशम कैसे बनाया जा रहा है आप वहां सड़क पे जाओगे हर घर में लगभग हर घर में वो बने हुए रहते हैं इनके इसके रेशम के कोए होते हैं वो खोल होता है उसका उसको उपज होती है कीड़ा आता है उसका बनाता है वो रेशम बनाता है और फिर बाद में उसको वो गर्म पानी में डालते हैं वो उबल के मरता है या तो निकाल देते हैं निकाल के खाने वाले खा जाओ या जो भी करो और उसका रेशम काम में आता है और अगर कीड़ा स्वयं काट के निकलता है तो रेशम कट जाता है लंबा धागा नहीं बनता इसलिए उसको निकलने से पहले उबाल देते हैं और उसको मार देते हैं ताकि वो लंबा लंबा रेशा मिले लंबा रेशा मिले तो पतली पतली साड़ियां बनेगी पतले पतले लंबे लंबे बहुत पत, ऐसे बनेंगे इत्यादि बातें और सुनो गजक खाते हैं गजक उसमें एक आजकल गजक जो कुरकुरी आती है ना अच्छी सी कड़क सी लगती है ना अच्छी लगती है ना उसको क्या बोलते हैं हाँ, क्रिप्स क्रिस्पी मतलब कर कर बोलती है ना उसका भी एक अलग स्वाद है <laughs> जिसको हिंदी में कहते हैं कुरकुरे कुरकुरे बोलते हैं जैसे मूंगफली होती है करारी भी बोलते हैं <laughs> करारी मूंगफली यानी जो जिसको का, काटने पर नमी भी नहीं नमी नहीं रहती गिच नहीं होता है वो चार तरफ कर कर करके पीसता है अच्छा लगता है जैसे चिप्स आते हैं नरम हो तो अच्छा नहीं लगेगा नमकीन है ये सारे कुरकुरे चाहिए क्रिप्स चाहिए तो आजकल जो गचकें बनती हैं परंपरागण से सब जगह नहीं था उसमें एक चीज डालते हैं सरेस सरेस डालते हैं सुना है आपने हाँ, वहां ऋषि उद्यान के सामने बनते मीठी मीठी गंध आती रहती है गुड़ की हो <laughs> उधर से तो वो एक डब्बा रखते हैं ऐसा नीले नीले रंग का ऐसा नीले रंग का प्लास्टिक के डब्बे होते हैं उसमें सरेस भरा हुआ आता है और बहुत सस्ता देते हैं वो बहुत सस्ता गजक बिकती है तो मैं एक दिन वैसे ही देखने चला गया क्या क्या करते हैं तो चाशनी बना रखी थी उसमें गुड़ और चीनी दोनों मिला के बना रहे थे वो अलग गुड़ की भी बनती है चीनी की भी बनती है मिला करके भी बनाते हैं बोले ये ज्यादा अच्छी लगती है लोगों को वो तो करते हैं तिल विल जो भी हो रहा है सिक रहा है और उसके कारीगर उत्तर प्रदेश से आते हैं वहां बनाने के लिए विशेष कारीगर होते हैं वो आके दिन रात बनाते रहते हैं पूरी दिन रात चौबीसों घंटे डब्बे डब्बे बनते रहते हैं और जाती रहती इतनी बिकती है सर्दियों में गजब वो डब्बा यूं खुला पड़ा हुआ था उसमें से यूं लेकर के इसमें डाल रहे हैं उसी में मिला रहे ये क्या चीज है बोले सरेस है ये सरेस क्या है सरेस क्या है चूने के साथ भी लगाते हैं सरेस बाइंडिंग मटेरियल है कहा से आता है वो प्राणियों से आता है बाइंडिंग मटेरियल मतलब गचक को जोड़े रखने के लिए वो टूट ना जाए बिखर ना जाए हम जाए तब तक टुकड़ा रहे नहीं तो चूरा ज्यादा हो जाए मीठा तो वो तो है लेकिन उसको बनाए रखने के लिए सरेस को डालते हैं उसको डालते हैं और हम खाते हैं ये कपड़े जो आज हमने पहन रखे सबने हम लोग किशनगढ़ कर गए वहां पर ब्रह्मचारियों को भ्रमण कराने एक बार बहुत साल पहले की बात है भ्रमण में एक बार वहां भी गए तो परोपकारिणी सभा के हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं सुभाष जी नवाल उनकी मिले हैं ये कपड़े का ही काम होता है वहां पर इसका धागा कैसे बनता है तो हम एक दूसरी मशीन उसमें गए फैक्ट्री में इनके यहां तो थोड़ा मोटा बनता है वैसा लेकिन और जो पतला और अच्छा धागा बनता है तो वहां पहले रुई रुई से धागा आता है फिर धागे की जब सिलाई होती है यानी ये जो कपड़ा बनता है ताना बाना उसमें इस धागे को टूट ना जाए उसके लिए उसकी प्रक्रिया करते हैं धागे की आपने इसमें देखा होगा कहीं कहीं वो धागा आते चलते चलते एक टूट गया खाली सा पड़ गया फिर आगे चल जाता है ये समस्या होती है टूटने की और वो बार बार टूटेगा तो वो कपड़ा खराब माना जाता है वो अच्छा नहीं माना जाता कहीं कहीं हमारे इन कपड़ों में भी आ जाता है नहीं तो प्राय अच्छे कपड़ों में कहीं नहीं मिलेगा ये तो एक बड़ी फैक्ट्री को देखने गए थे उसमें धागा आया धागा को कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है तो उसको एक तरल चिकनाई थी उसमें से डाल करके निकालते हैं तो पूछा ये क्या चीज है उसमें उन्होंने काऊ शब्द डाल के और गट काऊ गट या ऐसा कुछ नाम बोला था काऊ गट मेरे को पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है तो ये क्या चीज है उनको भी थोड़ा लग रहा था काऊ शब्द भी है सीधा सीधा काऊ शब्द था चर्बी थी वो ये वो बता रहे थे वो चर्बी है उसमें कुछ और भी पदार्थ डालते होंगे तो धागा को पहले उसमें से गुजारते हैं उस फिर धागे को सुखाते हैं आगे आगे बढ़ता जाता है गर्मीते हैं सुखाते हैं फिर धागा क्या हो जाता है मजबूत बन जाता है अब जब उसको मशीन में चलाते हैं तो टूटता नहीं है और कपड़ा बन जाता है ये जो कपड़े आते हैं नए नए आपने देखे होंगे जिसको हम कड़प भी बोलते हैं कई बार और जो खासतौर से जो पीले पीले कपड़े आते हैं जो काफी कुछ गंध भी अलग आती है फिर हम उसको डुबोते हैं शुरू में तो कपड़ा कितना मोटा और कैसा लगता है धोने के बाद में वो कपड़ा उसमें कड़प भी डालते हैं कड़प तो चावल की मांड से बनता है यानी मांड होता है और भी कुछ चीजें होती हैं तो ये धुलने पे वो जाता है तो इन कपड़ों को जिसको हम कहते हैं सूती कपड़ा और बिल्कुल सादा कपड़ा सात्विक कपड़ा <laughs> उसके बनने में ये कहां कहां क्या क्या उपयोग होता है जितना आप सोचते जाओ जानते जाओ उतना उतना कष्ट बढ़ता जाएगा तो सुख किसमें है <laughs> पर आज जो स्थितियां हैं कितनी चीजें हम पता ही नहीं सकते इन सब के बनने में जो भी चीजें हैं हम कहां कहां कैसा कैसा प्रयोग हुआ होगा पर हां जितना हम जान सकते हैं हम उससे बच सकते हैं तो बच लें नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें पता ही नहीं है पता लग ही नहीं सकता अलग नाम से आती हैं कई लोग तो यू भी कहते थे कि भाई पहले आइसक्रीम आती है इसके अंदर भी जो चीज डलती है वो भी पशुओं से आती है एक तो हम आइसक्रीम वो बनाते हैं जो वैसे दूध को लेके जमा दो तो जो बर्फ के टुकड़े जो होते हैं ना कड़क कड़क बन जाते वो आइसक्रीम ऐसी नहीं रहती मलाई मक्खन की तरह नहीं होती जैसी आइसक्रीम आजकल आती है तो उसके लिए उसमें कोई चीज डालते हैं जिलेटिन ही डालते हैं और भी कुछ कोई मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है नाम उसके लिए बोलते हैं पर आइसक्रीम में आजकल वो हरा एक बिंदु आता है शाकाहारी अभी एक लेख शायद परोपकारी में था या कहा कितनी चीजें जिस पे आजकल वो हरा भी आता है यानी शाकाहारी है लाल आता है तो मांसाहार का है उसमें जो चीज डली है वो एक विशेष रसायन या कोई नाम से आया वो तो किसी सीधे प्राणी से नहीं है वो तो उसको तो कहते हैं कि भाई ये प्राणी से नहीं आया बन के आया लेकिन वो बनने से पहले कई प्रक्रियाओं पहले वो प्राणियों से आया हुआ होता है अनेक बार गलत हो जाता है गलत हो जाता है वो भी कई बार गलत हो जाता है अब जैसे हम बहुत सारी चीजें हैं अब देखो दूध लेते हैं हम बाहर से छाछ भी लेते हैं कभी दही लेते हैं कभी मावे की बर्फी लेते हैं अब वो जिन जंतुओं को इंजेक्शन लगा करके और फिर दूध निकाला गया वो भी एक तरह की हिंसा है वो दूध आया हमारे को क्या पता है दूध निकालने वाले ने बछड़ों को दूध पूरा पिलाया या नहीं पिलाया क्या पता है हमें वो उन पशुओं की पूरी देखभाल कर रहा है नहीं कर रहा है हमें क्या पता है नहीं पता ना इसलिए कई जने तो बाहर का दूध पीते ही नहीं है बाहर की मिठाई नहीं खाते कई जने बड़े होते हैं सकते बिल्कुल नहीं करते नहीं तो भाई जहां गौशाला है अपनी है जहां ढंग से वहीं पर ही लेते हैं बाहर की मिठाई दूध दही छाछ आइसक्रीम कुछ नहीं कई जने ऐसे बिल्कुल नहीं करते इन सब में बहुत नैतिक प्रश्न है कई बार ऋषि उद्यान में भी जिज्ञासा समाधान में पहले ही बहुत बात आई थी कि भाई महर्षि ने लिखा है कि गऊ का या किसी पशु का एक थन उसके बच्चे के लिए होना चाहिए ठीक है एक ही लिखा है कम से कम एक होना चाहिए लेकिन चौथा हिस्सा लेकिन कई पशुपालक चौथा हिस्सा पशु बच्चे को नहीं देते दस प्रतिशत दिया बस मुंह लगाया उसने और बस उधर हटा देते हैं उसको शोषण करते हैं ये भी हिंसा हो गई हिंसा हो गई तो उचित है या नहीं है ये सब प्रश्न आते हैं कि जिसने दूध दिया हमने मान लो उसको मूल्य दे दिया हम कहेंगे भी हमने तो नहीं की वो हिंसा वो उसने अपने स्वार्थ के लिए किया उसका वो भुगतेगा हमने तो उसका पैसा दिया है तो हमारे को तो पाप नहीं लगेगा आप देखिए होटलों में जाते हैं कई बार आते जाते हैं बच्चे काम करते हैं छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं कितनी जगह काम करते हैं वो भी एक अपराध है कानूनन अपराध भी है बंधुआ मजदूर बने हुए रहते हैं दुनिया में जितने बंधुआ भारत में लाखों बंधुआ मजदूर हैं लगभग आधे भारत में बंधुआ मजदूर हैं आज भी बंधुआ मजदूर की जो नई परिभाषा आई है आजकल उसमें बहुत संख्या लाखों में है कितने कपड़े बनते हैं जो बंधुआ मजदूरों के द्वारा बनते हैं बस्तों बच्चों के द्वारा बनते हैं बीच में आपने सुना होगा वो फुटबॉल भारत से बन के जा रही थी उसका विदेशियों ने मना कर दिया था कि नहीं लेंगे हम ये फुटबॉल जो बनती है भारत में बन के जाती है वो चमड़े जो बनते हैं और फिर सिलाई करते हैं उस सिलाई में बाल मजदूर लगे हुए थे बंधुआ मजदूर तो विदेशी लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कई जगह जो ज्यादा संवेदनशील है कि ऐसी किसी जगह से हम नहीं लेंगे जहां बाल मजदूरी होती हो भारत में ऐसा काम होता था गांव गांव में कस्बों में शहरों में उन्होंने फुटबॉल लेने से मना कर दिया था भारत की कौन सा विश्व कप हुआ था एक या दो पहले की बात बता रहा हूं कितनी चीजें हमारे पास बन करके आती हैं अब हमारे लिए प्रश्न फिर उठेगा कि उनके द्वारा बनी भी आ रही है हम ले रहे हैं तो हम उनका समर्थन कर रहे हैं कालीन का है ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं विचारने तो बहुत सारी विचारने की हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो खैर गीता बहुत फैल गई है वर्क से बहुत सारी चीजें और बहुत सारा फर्क आ गया होगा आपके अंदर सुन करके पर इसमें कुछ जो ऐसी चीजें हैं उसमें बहुत अगर है तो बहुत कम है फिर अगर हमें उससे भी बचना है तो हम उसको बिल्कुल छोड़ दें वैसे हम अन्य भी जो भोग करते हैं उसमें जाने अनजाने हमारी असावधानी से बहुत सारी हिंसा होती रहती है ठीक है तो अब बहुत सारा कुछ दिनों से हम रोटी खा ही रहे थे चल रही थी अब बताओ <laughs> अब ऐसा हो गया बताओ और अभी भी सावधानी रखी फिर भी होता है नहीं हो जाता तो कुछ चीजों में फिर ऐसा करना चाहिए अगर यूं बहुत ज्यादा भी हम सोचते हैं तो हमारा सारा समय उसी में चला जाए और हम कर भी नहीं सकते हमारी सीमा से बाहर भी है हर चीज को खुद देखें करें दूसरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं हमारे खुद से भी हो जाती है लेकिन फिर भी हम देखें तो ये सब हम उतना कर नहीं पाते हैं उस पक्ष में क्या करना चाहिए मैं ऐसा सोच करके चलता हूं कि हमें अपने पुण्य अधिक कर लेने चाहिए मान के चलो हमारे से वो पाप हो रहा है उतने अंशों में ठीक है हम सीधे सीधे तो उस ढंग से हिंसा नहीं कर रहे लेकिन कुछ हो रहा है हमारे से अनजाने में हो रहा है हमें पता भी नहीं है अथवा कुछ पता है तो भी हम उन चीजों का उपयोग कर रहे हैं एक सीमा तक कम है मात्रा लेकिन वो हम अपने पुण्य इतने रखें कि वो उतना नहीं हो सहने लायक हो हमारे लिए ठीक है इस रूप में हम इसको कुछ ले सकते हैं फिर भी ये बहुत संवेदनशील बिंदु है कि जिसके मन में स्वीकार नहीं होता है तो वो समझाने से नहीं होगा ठीक है उसको छोड़ सकते हैं हम अब इतनी हमारी सब्जियां भी आते हैं उसमें भी कीटनाशक तो डलते ही हैं उसको तो फिर भी चलो वेदोक्त तो मान लिया जाए कि भाई कीड़ों को इसको मारने की स्वीकृति है हमें जंतु मरते हैं करना होता है उसके बिना नहीं होगा ठीक है समय तो बहुत हो गया आप में से किसी को पूछना है कुछ हाँ स्तुति दे दी ऐसे की परंपरा से जो तो हिंसा होती है हम व्यवस्था में उनको करनी है और हटा भी नहीं सकते तो उस हिंसा से जो तो जो भी पाप बनता रहा है उसमें तो बात नहीं तो दूसरी बात यह है जो आप कहते हैं कि हम पुण्य अधिक कर लेंगे उससे हमारे कोई काम होने वाला नहीं <laughs> नहीं मोक्ष में बाधा क्या तब तो डरना चाहिए ना आपने पहली बात भी तो कही है उसका उत्तर का है आपने ये भी तो कहा मोक्ष में बाधक है नहीं है अब ये कैमरा है देखो अब इसमें अंदर क्या क्या लगा होगा उसको बनाने में क्या क्या प्रयोग किया होगा नहीं कह सकते हो सकती है ऐसी चीजें ठीक है अच्छा एक सूचना कर देता हूं इसमें